नवमा मंत्र हो गया था दसवा मंत्र की टीका में सर्वात्मकम ब्रह्म उक्तम पूर्वत्र कहा गया ब्रह्म सर्वात्मक सौ ब्रह्म ही है ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है ये जो कहा गया है शंका करने वाले कहते त दशत हो तो ठीक नहीं है क्यों ठीक नहीं उपाधि अवच्छिन्न चैतन्य से जीव से संसारित्वाद उपाधि अवच्छिन्न चैतन्य है जीव अंतकण उपाधि अवच्छिन्न चैतन्य जीव है तो उपाधि से जीवता जैसे आकाश तो व्यापक है अवच्छिन्न आकाश को कहते आकाश वो आकाश तो उत्पत्ति नाश वाला है घट की उत्पत्ति होने से आकाश की उत्पत्ति नाश से आकाश नाश आकाश स्वरूप रहने पर भी घट उत्पत्ति के पहले आकाश नहीं कहते थे घट नष्ट होने के बाद आकाश रहने पर वो घटाकाश तो नहीं रहा इसी प्रकार उपाधि अवचन चैतन्य जीव संसारी है संसारी जन्म वर्ण को प्राप्त करता है सुख दुख प्राप्त करता है क्षत पिपासा वाला है और वो ब्रह्म सर्वात्मक ब्रह्म कैसे होगा ब्रह्म आनंद रूप है उसमें दुख संभव है नहीं है जन्म मरण रहित है व्यापक है ये तो परिचय है विरुद्ध ऐक्य ऐक्यायुगात संसारित्व जीवत्व और ब्रह्म ब्रह्म सर्वात्मक है सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा जीव संसारी है परिचिन्न है जन्म मरण वाला है दोनों विरुद्ध धर्म आक्रांत विरुद्ध धर्म से युक्त विरुद्ध धर्म धर्मेर आक्रांत विरुद्ध धर्म युक्त है जिस प्रकार विरुद्ध धर्म युक्त वन्य और बर्फ एक में शीत स्पर्श एक उष्ण स्पर्श दोनों एक कैसे होगा दहन तुहिन दहन वन्य तुहिन बर्फ दोनों एक नहीं होगा एक में शीत स्पर्श एक उष्ण स्पर्श विरुद्ध धर्म आक्रांत होने से एक नहीं अलग-अलग है इसी प्रकार एक में तो संसारित्व है और परमात्मा असंसारी है शब्द केवल संसारी असंसारी से भिन्न हो गया और बहुत धर्म है विरुद्ध जीव अल्पज्ञ है ईश्वर सर्वज्ञ है जीव परिचय है ईश्वर अपरिचय है ये जन्म वर्ण वाला बहुत विरुद्ध धर्म आक्रांत और ऐक्य एवं ऐक्य नहीं हो सकता है इसलिए सर्वात्मक ब्रह्म ठीक नहीं इति आशंक्य यहाँ तक शंका होने पर उत्तर देते हैं विरुद्ध धर्मत्वस्य उपाधि निबंधनत्वात् स्वभाव के न किंचित अनुपपन्नम इत्याह आकाश में परिच्छिन्नत्व परिच्छिन्नत्व भान होता है घटाकाश परिच्छिन्न महाकाश अपरिच्छिन्न है ये जो विरुद्ध धर्म तो आकाश में दिखता है तो घट रूप उपाधि के कारण और घट उपाधि रहते हुए भी आकाश का भेद भिन्न तो नहीं होता है कोई पदार्थ नहीं आकाश का भेद करने के लिए तो घट को लेकर के हम घटाकाश शब्द प्रयोग करते हैं घटाकाश कोई महाकाश से भिन्न नहीं है इसी प्रकार जो विरुद्ध धर्म संसारित्व असंसारित्व है वो तो उपाधि के कारण विरुद्ध धर्म से उपाधि निबंधन तो उपाधि निबंधन यस्य विरुद्ध धर्मत्व से उपाधि मूल का निबंधन मूल कारण उपाधि के कारण विरुद्ध धर्म जीव शब्द का जो वास्तव अर्थ है चैतन्य तो शुद्ध है उसमें तो देहादि अंतकणादि उपाधि को लेकर के संसारित्व कर्तृत्व भोक्तृत्व ये सब देह की उत्पत्ति न जन्म मरण है क्षुत पिपासादि प्राण का धर्म सुख दुख अंतकण में ये उपाधि को लेकर के ही विरुद्ध धर्म दिखता है आत्मा में चेतन में कोई विरुद्ध धर्म है ही नहीं स्वभाव है कि न किंचित अनुपपन जो उपाधि के कारण जैसे जपा कुसुम के पास स्फटिक रखेंगे जपा कुसुम लाल पुष्प ये पुष्प है लाल उसके पास स्फटिक रखेंगे तो स्फटिक में लालिमा दिखेगी पुष्प को हटा देंगे तो लालिमा नहीं दिखेगी उस पर रहेगा जपा कुसुम लाल दिखेगा अब स्फटिक मना कर दे जका जपा कुसुम है पास में स्फटिक है तो स्फटिक में लालिमा दिखेगी या पुष्प में दिखेगी और जब आपको मालूम हो गया पुष्प के लालिमा ही पुष्प की लालिमा जो दिखती है स्फटिक में उसके बाद पुष्प में क्या वर्ण दिखेगा और स्फटिका में लाल दिखेगा हाँ, जब तक पुष्प है लाल दिखेगा ये पुष्प हो गया उपाधि उप समीपे स्वगुणान आधत्ते इति उपाधि उप उपाधि उप अगर आ अगर दा धातु आधि उपाधि बनने के लिए उप पूर्वक आंग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय हो जाएगा उपसर्ग घो की उपसमीपय स्वगुणान आदत्ते समीपय में अपने गुण की उत्पन्न कर दे देता है इसे इसको कहते उपाधि स्फटिक पास में रखेंगे तो स्फटिक में अपने गुण इसके लालिमा स्फटिक में चली जाती है सत्य तो नहीं है किंतु उसके समान गुण उसमें दिखा देता है पुष्प इसमें जैसे रूप पुष्प में से रूप दिखता है समीपे स्वगुणान आदत्ते आधान करता है गुण उसमें दिखा देता है उत्पन्न होता जैसे लगता है स्फटिकल में लाल बनना इसी प्रकार अंतकण उपाधि आत्म चैतन्य व्यापक है अंतकण के साथ आत्मा का तादात्म्य अध्यास होता है एकत्व भ्रम होता है जैसे जल में आकाश का प्रतिबिंब दिखता है घड़ा में बच्चा कहता है घड़ा में आकाश है थोड़े जल को हिलाए तो कहेगा आकाश हिल रहा है जल का धर्म जल का कंपन आकाश में दिखता है जल है उपाधि देह का धर्म आत्मा में दिखता है देह का जन्म मरण है तो आत्मा में जन्म मरण व्यवहार अंतकण में सुख दुख है तो अंतकण का धर्म आत्मा में दिखता है कहते चैत्र मर गया जन्म हुआ मर गया जो आत्मा उसमें जन्म मरण नहीं देह आदि धर्म को आरोप करते हैं अंतकण का धर्म आरोप करके सुखी दुखी कहते हैं उपाधि के कारण जो जपा कुसुम के कारण स्फटिक में रक्त बन आया और रक्तवन वास्तव है क्या वास्तव कल्पित धर्म उसको भिन्न कर देगा भेद कर देगा अवास्तव धर्म से धर्मी भिन्न नहीं होता है अवास्तव मरुभूमि में जल कल्पित दिखता है उससे में थोड़ी-थोड़ी गिल्ली होती है ना है नहीं बिल्कुल कोई संबंध नहीं है इसी प्रकार यहाँ जो उपाधि धर्म है विरुद्ध धर्मत्वस्य उपाधि निबंधनत्वात् चैतन्य में उपाधि के कारण जो धर्म है वो इस चैतन्य में उसका संबंध है ही नहीं उपाधि पुष्प के कारण जो लालिमा रूप है स्फटिका में थोड़ा उसमें लालिमा आ जाती है दिखती केवल पुष्प हटाए तो नहीं पुष्प रहते समय भी स्फटिक में लालिमा है ही नहीं दिखता है केवल प्रतिबिंब जैसे इसलिए वास्तव नहीं उपाधि मूलक धर्म रहने पर भी स्वभाव एक न किंचित अनुपपन्नम स्वभाव एक है स्फटिकत तो वन नहीं स्वभावत तो शुक्ल है पुष्प रखने से लाल दिखा अन्य पुष्प रखेंगे पीत पुष्प हरित पुष्प तो अलग-अलग रूप दिखेगा किंतु वास्तव स्वच्छ रूप है शुक्ल रूप है अन्य रूप है ही नहीं इसी प्रकार उपाधि मूलक जो धर्म अल्पज्ञत्व सर्वज्ञत्व ईश्वर में सर्वज्ञत्व भी शुद्ध चेतन में नहीं है माया उपाधि होने से उसमें सर्वज्ञत्व और इसमें अंतगुण उपाधि के होने से अल्पज्ञत्व अहंकारत्व संसारित्व ये सब धर्म वास्तव स्वरूप में ऐक्य में कोई अनुपपन्न असंभव नहीं अप्रमाणिकत्व नहीं त्याह यद ब्रह्मादि स्थावरांतेषु वर्तमानम तत्तदुपा तत्तदुपाधिकत्वात् अब्रह्मवद अवासमानम संसार्य अन्यत परस्मात् ब्रह्मण इति माभूत कस्यचित् इति इदमाह यद् ब्रह्मादि स्थावरान्ते सुवर्तमानं चैतन्यं चिद्रूप ब्रह्मा से लेकर के स्थावर वृक्ष आदि तक सब में रहता है ब्रह्म पत्थर में भी ब्रह्मा से लेकर पत्थर तावृत्ति रहने वाला वर्तमान चैतन्य तत्तद उपाधिकत्वात् तद उपाधिक ही दिखता है शुद्ध चैतन्य तद नहीं दिखता है तत्त उपाधिक हुआ उपाधि कौन से उपाधि का धर्म उसमें दिखता है उपाधि का धर्म दिखने से अब्रह्मवद अभासमानम चैतन्य शुद्ध है वो दिखता नहीं अब्रह्मवद भान दिख होता है जैसे स्फटिक लाल रूप वाला जैसे लगता है लाल रूप वाला है ही नहीं उपाधि के कारण चैतन्य जन्म मर वाला संसारी जैसे भान होता है अब्रह्मवत भान होता है ब्रह्म भिन्न जैसे लगता है ब्रह्म शुद्ध है व्यापक किंतु परिचिन्न जैसे लगता है देह धर्म को लेकर के आकाश व्यापक है घट आकाश परिचिन्न है चेतन व्यापक है किंतु चैत्र मैत्र आदि देह को लेकर के वो परिचिन दिखता है जन्म वर्ण दिखता है ब्रह्म भिन्न जैसे लगता है होता नहीं भिन्न संसारी अन्यत परस्माद ब्रह्मण शंका क्या होगी ब्रह्म भिन्न जैसे जब दिखता है विचार नहीं करने वाले को लगता है ये तो कोई ब्रह्म भिन्न है संसारी अन्य है जन्म मरने वाला ब्रह्म कैसे होगा ब्रह्म अन्य है संसारी अन्यत पर संसारी परस्माद ब्रह्मण अन्यत पर ब्रह्म से भिन्न है संसारी पर ब्रह्म तो नित्य शुद्ध ज्ञान रूप है ये तो जन्म वर्ण वाला ये कोई दूसरा है संसारी जीव परब्रह्म से भिन्न है इति मां भूत कस्य आशंका ये शंका तो होती है श्रुति शंका निराकरण करने के लिए उपदेश करती है कस्यचित आशंका मां भूत न भवेत न स्यात् आशंका नहीं हो शंका निवृत्ति करने के लिए इदम आह श्रुति कहती है श्रुति उपदेशते इसलिए अज्ञानी को ज्ञान प्रदान करके अज्ञान समुद्र से पार कराने के लिए उद्धार करने के लिए श्रुति कहती है ये भेद बुद्धि होती है स्वाभाविक अज्ञान के कारण ये भेद बुद्धि निवृत्ति करने के लिए श्रुति कहती है कसेति शंका आशंका होगी क्योंकि ब्रह्म भिन्न जैसा लगता है तो लगता है करके तो विचार को समझने वाले कहेंगे अज्ञानी कहता तो ब्रह्म भिन्न है विचार करने वाले कहते रज्जु है सर्प जैसे दिखता है दिखती है रज्जु है सर्प नहीं है अब भ्रांत तो कहता सर्प ही है रज्जु है ही नहीं इसी प्रकार सब लोग नाम रूप ये संसारी जन्म मरण मनुष्य पशु पक्षी यही सब दिखते हैं यही सब है ब्रह्म को यही नहीं इसलिए कितने साथ विचार करने वाले कहते हैं आत्मा कोई पदार्थ है ही नहीं जो प्रत्यक्ष दिखता है पृथ्वी जल तेज वायु यही है पृथ्वी जल तेज आकाश में नहीं मानते हैं चार वाक लोग और बौद्ध में कुछ कहते सब क्षणिक है असत है तुच्छ है कुछ है ही नहीं जो सब दिखता है वो सब झूठा है कुछ है ही नहीं अब विज्ञानवादी बौद्ध के कहते न क्षणिक ज्ञान उत्पत्ति नाश वाला और कोई तत्व आत्मा नाम का को कोई पदार्थ है ही नहीं इसीलिए कहते औपाधिक धर्म जो दिखता है इसको सत्य मानने से ऐसे ब्रह्म कोई है ही नहीं मानते जो लोग वेद प्रमाण नहीं मानते अब वेद को प्रमाण मानने पर कहते ब्रह्म तो सर्वज्ञ जगत सृष्टि करने वाला अजीव तो अल्पज्ञ है ये भिन्न है एक नहीं हो सकता है अभी बहुत लोग जीव ब्रह्म की एकता का नाम सुनते ही नाराज होकर डांट फटकार करेंगे गाली देंगे कहते कितने पापी है ये अपने को परमात्मा कहते हैं जीव बद भान होता है ये जरूर है किंतु वो ये शंका निवृत्ति के लिए श्रुति कहती है भान होता है भेद दिखता है जरूर किंतु सत्य नहीं है स्वप्न दृष्टांत है स्वप्न में दिखता है बहुत किंतु है ही नहीं ये श्रुति स्पष्ट कर देती है एक ही तत्व है वेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्वेह मृत्यु समृत्यु माप्नोति य इह नानेव पश्यति यद एव इह तद अमुत्र यद एव इह यह यहाँ कार्यक्रम संघात में है उपाधि जो दिखता है जीव मनुष्य पशु देव हो वृक्ष हो शरीर इंद्र समा उपाधि युक्त जीव दिखता है कार्यकन उपाधि युक्त जो यहाँ दिखता है संसारी जैसे लगता है तद अमूत्र वो उपाधि रहित शुद्ध वही है अमूत्र का तो वहाँ तो नित्य विज्ञान स्वरूप ब्रह्म वहाँ कोई अलग है ये यहाँ कोई अलग नहीं है एक ही आकाश जिस प्रकार सर्व ब्रह्मांड में व्याप्त है ये घड़ा के अंदर वही है जो बाहर जीव आकाश एक ही है जो चेतन वहाँ है वही चेतन यहाँ है जो परब्रह्म स्वरूप चेतन है वही जीव रूप से दिखता है उपाधि के अंतर कारण परिचन लगता है यद अमुत्र तदन्य जो यहाँ है वही वहाँ है जो वहाँ है वो यहाँ है दोनों अत्यंत अभिन्न है मिट्टी घट में से अत्यंत अभिन्न नहीं है जो घड़ा है वो मिट्टी है जो मिट्टी है वो घड़ा है क्या मिट्टी ढेला लाओ घड़ा है घट बनने के बाद क्या मिट्टी रहेगी घट तो मिट्टी है घट उत्पत्ति के पहले रहते समय नष्ट मिट्टी घट मिट्टी है अरे मिट्टी घट है मिट्टी घट नहीं मिट्टी घट से भिन्न भी है कितने मिट्टी घट नहीं है दोनों में थोड़ा सा भेद हुआ किंतु यहाँ जो यहाँ है वो वहाँ अमूत्र जद अमूत्र तदन्य जो उपाधि परिचिन्न दिखता है वही निरुपाधि स्वरूप है और जो निरुपाधि स्वरूप है वही उपाधि परिचिन्न होता है अत्यंत अभेद है ब्रह्म जीव में मिट्टी घट जैसे नहीं अत्यंत अभेद है मिट्टी घट में तो जो जीव है जो मिट्टी है वो घट बनने के बाद मिट्टी रहती है किंतु घट के बिना भी मिट्टी रहती है यहाँ जो चिद्रूप है वही उपाधि परिच्छिन्न दिखता है उपाधि रहित भी वही है एक अत्यंत अभिनय ऐसा होने के बाद भी जो अज्ञान के कारण वेद बुद्धि करता है श्रुति कहती हो क्या होगा उसको मृत्यु समृत्य में आपनोति मृत्यु से फिर मृत्यु को प्राप्त करेगा एक बार यहाँ तो मर जाएगा और आगे फिर मरेगा मरेगा तो उसके पहले जन्म होगा जन्म होने के बाद मरने के पहले बीच में कोई दुख भोगना पड़ता है क्या दुख ही दुख है जन्म मृत्यु जरा व्याधि संसार को प्राप्त करेगा मृत्यु से मृत्यु में आपनोति जब तक भेद बुद्धि करता है तब तक उसको ही मिलता है मृत्यु से जन्म मरण जन्म मरण प्रवाह में चलता ही रहता है कौन यह यह नानेव पश्यति यहाँ जो नाना इव भिन्न इव देखता है भिन्न है ही नहीं जिस प्रकार स्वप्न में आप अकेले हैं आपसे भिन्न कोई नहीं है तथा भी भिन्न जैसे लगता है इसी प्रकार यहाँ भी भिन्न है ही नहीं भिन्न इव श्रुति स्पष्ट कर देती नाना इव पश्यति नाना पश्यति नहीं नाना इव पश्यति अनेक है ही नहीं अनेक जैसे देखता है कोई राज्य में सर्प देखता है सर्प जैसे दिखता है सर्प को देखता है राज्य में भ्रांति काल में राज्य में कोई सर्प देखता है सर्प देखता है भ्रांति काल में राज्य में भ्रांति काल में सर्प देखता है हैं सर्प कहां देखेगा सर्प दे नहीं सर्प जैसे उसको लगता है सर्प को कैसे देखेगा जहां सर्प नहीं हुआ सर्प देखेगा कोई सर्प ज्ञान हो गया सर्प को देखने के लिए सर्प होना चाहिए सर्प नहीं तो कैसे देखेगा वो कहता सर्प है सर्प जैसे लगता है सर्प जैसे देखता है सर्प जैसे उसको लगता है ठीक इसी प्रकार अज्ञानी अभी नाना देखता है नाना नहीं नाना इव पश्यति जो अनेक जैसे देखता है श्रुति स्पष्ट कर देती है भेद बुद्धि करने वाले फिर जन्म मरण चक्र को प्राप्त करता है इसलिए भेद बुद्धि नहीं अभेद बुद्धि करनी चाहिए टीका भाष्य में यदेव यह यह का अर्थ कार्य कर्ण उपाधि समन्वितम कार्य शरीर कर्ण इंद्र उपाधि से शरीर इंद्र उपाधि से युक्त दिखता है संसार धर्मवत अभासमान संसार रूप धर्म उसमें दिखता है धर्म वाला जैसे लगता है भान होता है अविवेकी ना अविवेकी के लिए लगता है संसार धर्मवत संसार धर्म वाला जो यहाँ दिखता है तदेव अमूत्र तद अमूत्र स्वात्मस्थम अमूत्रम अपने स्वरूप में स्थित है अमूत्रम अमूत्र अमूत्र का नित्य विज्ञान घन स्वभावम सर्व संसार धर्म वर्जितम ब्रह्म नित्य है विज्ञान घन ज्ञान घन स्वभाव ज्ञान स्वरूप है सर्व संसार धर्म वर्जितम ब्रह्म में कोई संसार धर्म है ही नहीं संसार धर्म जन्म मृत्यु जरा व्याधि जन्म मरण आदि संसार धर्म रहित है ब्रह्म यमुत्र तद अन्वीय यच्च का तो अमुस्मिन आत्मनि टीका में क्या अमुस्मिन जगत कारण तुपादु वहां जगत कारण तुपादि में जगत कारणत्वम उपाधि जगत कारण ईश्वर उपाधि में जगत कारण तो उपाधि वही परमात्मा जगत कारण तो उपाधि में वही एक ही तेज चेतन है उपाधि स्वभाव से भेद दृष्टि से भाष्य में पहले अमुस्मिन आत्मनि परमात्मा में वही तत्व ईश्वर में वही जो जीव में आत्मनिष्ठितम तदेव इह जो वहां है वही यहां है यहाँ मतलब नाम रूप कार्य कर्ण उपाधि अनुविभाव्यमानम नान्यत कार्य कर्ण है कार्य शरीर कर्ण इंद्र उपाधि के पीछे अनुविभान होता है उपाधि को लेकर के उपाधि के बिना नहीं दिखता है उपाधि को लेकर के दिखता है यहाँ वही जीव रूप से दिखता है मनुष्य पशु रूप से दिखता है नाम रूप कार्य कर्ण उपाधि के अनुसार दिखता है वही तत्व दोनों में अत्यंत अभेद है तत्रैवं सति उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि लक्षण या अविद्या मोहित सन यय ब्रह्मणि अनानाभूते परस्माद् अन्योहम मत्वन्यत परम ब्रह्म इति नानेव भिन्नमेव पश्यति उपलभते समृत्यो मृत्युमाप्नोति ततैवं सति जीव ईश्वर उपाधि दोनों है दोनों तदगत चैतन्य एक है उपाधि भिन्न होने पर औपाधिक धर्म भिन्न होने पर भी चैतन्य जीव ईश्वर में एक है ऐसा होने पर भी उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि लक्षण अविदया उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि ये दोनों का कारण है अविद्या उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि लक्षण है अविद्या उसका विग्रह दिया टीका में उपाधि स्वभाव भेद दृष्टिश्च इतुपाधि स्वभाव भेद दृष्टि ताभ्याम लक्ष्यतेति उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि लक्षण ताभ्याम लक्ष्यतेति कारणतया लक्ष्यते उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि के कारण रूप से जो दिखती है वही अविद्या है अविद्या के कारण ही भेद दृष्टि होती उपाधि स्वभाव होता है उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि के कारणत्वेन लक्षित होती है उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि लक्षणा उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि से लक्षित होती कारणत्वेन उसका कारण उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि लक्षणा है अविद्या अर्थात अविद्या के कारण ही उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि होती है उसे अविद्या से मोहित सन मोहित भ्रांत होकर के नाना जैसे दिख, दिखता देखता है है मैं नय अंतकन उपाद अंतकनादि उपादेर भेद दृष्टेश्च अनिर्वाच्य अविद्यामंत्रण संभव कार्य कारण भाव से संबित संबंध च निरूपत्वाद अंतकणादि अंतकण देहादि उपाधि के बिना भेद अंतकण उपाधि के का और भेद दृष्टि का कारण अंतकणादि उपाधि और भेद दृष्टि दोनों ये दोनों अविद्या के बिना संभव नहीं है भ्रांति अज्ञान के बिना नहीं है रज्जु अज्ञान नहीं तो सर्प नहीं दिखेगा उपाधि अंतकणादि उपाधि भी कहाँ से आएगी अज्ञान के बिना अंतकणादि उपाधेर भेद दृष्टिश्च अनिर्वाच्य अविद्या मंत्रण संभव अविद्या है अनिर्वाच्य उसका निर्वचन नहीं होता है सत असत उभय रूप से ही अनिर्वचन है अविद्या अनादि है उसके बिना अंतकण आदि उपाधि नहीं बनेगी भेद दृष्टि भी नहीं होगी और ज्ञान होने से उसका विक्षेप अंतकण आदि उपाधि और भेद दृष्टि रज्जु के अज्ञान से सर्प दिखता है सर्प ज्ञान शिविर भय कंप पलायन इसी प्रकार अविद्या के कारण ही अंतकण आदि उपाधि और भेद दृष्टि भेद ज्ञान ये दोनों उसके अविद्या के बिना नहीं संभव नहीं है इसलिए अविद्या उसका कारण है कार्य कारण भाव से संबित संबंध से दुनिरूपत्वाद कार्य कारण भाव कहीं भी कार्य कारण भाव निरूपण नहीं होता है ये जगत दिखता है भेद भेद दिखता है उसका कारण क्या है शुद्ध चैतन्य को कारण कहेंगे शुद्ध चैतन्य का कार्य जगत कैसे बनेगा कार्य कारण भाव निरूपण नहीं हो पाता है ये अजातवाद मांडुक्य में भगवान भाष्यकार के परम गुरु जी ने गौड़पदाचार्य ने सिद्ध कर दिया कार्य की कार्य है ही नहीं लोक में प्रयोग किया जाता है किसकी उत्पत्ति होगी सत से सत की उत्पत्ति होगी या सत से असत की उत्पत्ति होगी असत से सत की उत्पत्ति होगी अतः असत से असत्य की उत्पत्ति होगी चार ही विकल्प किया सत से सत्य की उत्पत्ति होगी जो पहले विद्यमान उसे घट गया उसी घट से दूसरा घट बन जाता है सत से सत्य की उत्पत्ति नहीं होगी सत से असत्य की उत्पत्ति असत्य बंध्या बंध्यापुत्र उसकी उत्पत्ति होती क्या तो सत से असत्य की उत्पत्ति नहीं होगी सत से नहीं तो असत से मानो असत से सत की उत्पत्ति बंध्यापुत्र से सत की उत्पत्ति बंध्यापुत्र से क्या उत्पत्ति होगी और असत से दूसरे असत बन जाए एक सस विषाण से बंध्यापुत्र की उत्पत्ति होगी अतः बंध्यापुत्र से खरगोश का सिंह बन गया खरगोश सिंह से और दूसरा एक सिंह बन गया मूसक विषाण चूहा का सिंह बन गया एक असत से दूसरे असत की उत्पत्ति होगी या दूसरे असत से प्रथम असत की उत्पत्ति होगी असत से असत की उत्पत्ति नहीं होगी तो असत से सत्य की उत्पत्ति असत से सत्य की उत्पत्ति नहीं तो फिर किसकी उत्पत्ति होगी तो कहते जैसे पिता से पुत्र बना बीज शंकर बना ऐसे ही सत से सत्य उत्पत्ति हो जाए सत से सत्य की उत्पत्ति हो तो घट से घट की उत्पत्ति हो जाए अनेक सत नहीं है और जो बीज शंकुर पिता से पुत्र कहते हैं ये व्यवहार तो क्या जाता है वहाँ विचार कर देखेंगे जिसकी उत्पत्ति हुई बीज संकुर बना मिट्टी से घट बना वो घट क्या सद घट की उत्पत्ति हुई या असद घट की उत्पत्ति हुई सत यदि पहले उसकी उत्पत्ति क्यों होगी और असत की उत्पत्ति होगी असत की उत्पत्ति बंध्यापुत्र की उत्पत्ति हो जाए सुना है कहीं बंध्यापुत्र की उत्पत्ति होगी विदेश में कहीं भी बंध्या पुत्र की उत्पत्ति नहीं असत की उत्पत्ति नहीं होती है इसलिए उत्पत्ति जिसकी होती है वो सत की उत्पत्ति होती है असत की उत्पत्ति होती घट की उत्पत्ति होती कहते वहीं विचार करो तार्क तार्किक से पूछो तुम कहते घट की उत्पत्ति हुई क्या सत घट की उत्पत्ति या असत घट की उत्पत्ति सत घट की उत्पत्ति होगी पहले जो घट था उसकी उत्पत्ति होगी और जो असत्य की उत्पत्ति होगी असत्य की उत्पत्ति हो तो फिर असत बंध्यापुत्र की उत्पत्ति हो जाए इसलिए घट नाम रूप घट प्रयोग करते सांख्य लोग कहते असत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती और विद्यमान घट और फिर विद्यमान पहले तो उत्पत्ति किया कहते तो उत्पत्ति का था प्रादुर्भाव प्रकट हो गया अंधकार में घट नहीं दिखता प्रकाश लगाया प्रकाश जला दिया तो घट दिखने लगा तो प्रकाश से घट की उत्पत्ति हो जाती है ना नहीं उत्पत्ति नहीं होती अभिव्यक्ति होती है इसी प्रकार ये घट पहले मिट्टी में था उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है उत्पत्ति नहीं है इसी प्रकार विचार करते हैं तो घट की उत्पत्ति तो प्रयोग करते विचार करने पर वो घट सत्य या असत्य किसकी उत्पत्ति वहाँ बड़े-बड़े विचार के आगे दिमाग काम नहीं करती है क्या कहेंगे सत्य की उत्पत्ति असत्य की उत्पत्ति कहेंगे असत असत से विलक्षण क्या होगा फिर कुछ नहीं कह पाते कि बस तो अनिर्वचनीय उसका आश्रय लेना पड़ता है इसलिए उपाधि कार्य कारण भाव का निरूपण नहीं हो सकता है ब्रह्म से जगत कैसे बनेगा ब्रह्म निष्क्रिय है जगत कैसे बनेगा कार्य कारण भाव से और संबित संबंध से संबित चिद रूप चेतन का संबंध जैसे मरुभूमि का संबंध जल के साथ आया नहीं इसी प्रकार चेतन ब्रह्म का संबंध इस जगत के साथ चिद रूप का संबंध किसी के साथ है ही नहीं असंगो ह्ययम पुरुष चेतन का संबंध है ही नहीं आकाश आदि भूत भौतिक किसी के साथ संबंध है ही नहीं दृग दृश्य संबंध का निरूपण नहीं हो सकता है दृश्य मिथ्या है दृग रूप प्रकाश है चेतन है चेतन है सत्य और मिथ्या दोनों का संबंध हो नहीं सकता है हाँ, आरोपित तो होता है जैसे मरुभ में जल आरोपित तो दिखता है राज्य में सर्प दिखता है दिखते समय रज्जु सर्प का संयोग होता है रज्जु सर्प बन जाती है ना संयोग वे ना संभव है ही नहीं संबंध झूठा दिखता है इसी प्रकार यहां कार्य कारण संविसमद दुर्निरूप होने से अविद्या से ही वेद दृष्टि अज्ञान के कारण उपाधि आदि सब है नानैव भाष्य में दिया तत्रैवम सति उपाधि सभा भेद दृष्टि के कारण का कारण अविद्या अविद्या से मोहित भ्रांत होकर के मोहित सन या यह ब्रह्मणि नाना नानाभूत है नहीं ब्रह्म एक ही अद्वितीय है उसे भेद दृष्टि करता है कैसे भेद दृष्टि करता है परस्मात् अन्यो अहम मत्व परम ब्रह्म पर ब्रह्म से मैं भिन्न हूँ मेरे से भिन्न है परमात्मा इसी प्रकार बुद्धि करता है नाना इव पश्यति नाना इव का अर्थ भिन्नमिव देखता है देख उपलब्धि करता है भिन्नमिव टीका में दिया नाना इवैत उपमार्थ इव शब्द नाना जैसे इव दिया उपमा के लिए किसके लिए उपमा करना नाना जैसे सारा जागृत प्रपंच भिन्न जैसे दिखता है उपमा करने के लिए ये भिन्न जैसे भिन्न नहीं है तो भिन्न कहाँ हो तो उपमा करेंगे चंद्र एव मुखम मुख चंद्र जैसे चंद्र कोई पदार्थ है तो मुख को चंद्र एव कहेंगे ये नाना एव दिखता है प्रपंच प्रपंच यदि नाना नहीं है नाना कहाँ है नाना उपमा करेंगे इसलिए कहते यथा सपने नानात्व नाना नानात्वम अध्यारोप्य सत्यत्व अभिनिवेशन व्यवहारति स्वप्न में बहुत कमरे में बहुत सोते हैं आप स्वप्न देखते सब सब वही स्वप्न देखते हैं स्वप्न सब जो देखेंगे तो सब का स्वप्न प्रपंच अलग-अलग है आपके स्वप्न प्रपंच में दूसरा भी दिखेगा दिख सकता है आप यदि स्वप्न में दूसरे को देखते तो आपके स्वप्न देखते समय दूसरे साथ मिल करके आप जा रहे हो दूसरे साथ मिलकर बात कर रहे हो दूसरे साथ मिलकर के नीलकंठ जा रहे हो उस समय दूसरे व्यक्ति सपना देख सकता है क्या दूसरे जो सपना देखता है क्या सपना देखता जा रहे हैं वो सपना देखता है दूसरे कहीं उड़ रहा है आकाश में अतः आपके साथ झगड़ा कर रहा है इधर सपना देखते हो आप दोनों मिल करके विचार करते हैं उधर सपना देखे दोनों आप झगड़ा कर रहे हैं उधर देखा सपना देखा कोई पेड़ में चढ़ करके पेड़ से छलांग लगाया बंदर बन गया सपने में तो ये सपने में कोई कुछ सपना दिखता है कहीं किसका सपना सत्य है भेद कहीं है सपने में भेद नहीं है नानात्व अभावे भी भेद नहीं होने पर भी नानात्वम अध्यारोप आरोप करके उस समय सपना देखते समय क्या सत्य लगता है झूठा लगता है थोड़ा थोड़ा सत्य थोड़ा थोड़ा मिथ्या ऐसा है बिल्कुल सत्य नानात्व का आरोप करके सत्य तो अभिनिवेश न व्यवहारती व्यवहार करता है सत्य मान करके तभी तो झगड़ा कभी करते हैं और कोई देखता है दौड़ना चाहता है देखा व्याघ्र आया सर्प आया कोई मानने के आता है दौड़ता है सत्य तो अभिनिवेश से व्यवहार करता है स्वप्न में सत्य नहीं होने पर भी तथा जागरित भी नाना इव ये नाना जैसे स्वप्न भी सिद्ध है नाना नहीं होने पर भी नाना जैसा लगता है उसको दृष्टांत दिया वास्तव नाना होना कोई जरूरत नहीं है अन्यत्र नाना नहीं होने पर भी नाना लगता है ठीक इसी प्रकार जागृत भी नानात्म अध्यारोप्य अज्ञान के कारण सपने में यदि आपको मालूम हो जाए मैं भोजन करके सोया खट में दरवाजे बंद करके लेटा हूं तो सब सपना दिखेगा दिखेगा सपना सब उस समय सपना नहीं दिखेगा यदि जागृत अवस्था का ज्ञान है मैं लेटा हूं यहां तो सब सपना नहीं नींद हो जाने पर भूल जाता है मैं भोजन करके सोया पानी पी करके और सपने में क्या देखता है भूखा गला सूख जाते मर जाऊंगा चिल्लाता है पानी दे तो मर जाऊंगा मर जाऊंगा बोलते बोलते जग जाता है उसी प्रकार नहीं होने पर ही सत्य लगता है देखता है इसी प्रकार जागृत में भी ऐसे देखता है नाना नहीं है इसी प्रकार नाना तो का आरोप करके सत्य तो अभिनिवेशन यो व्यवहरति व्यवहार करता सत्य मान करके ऐसे सत्य व्यवहार करता है सत्य मान करके अज्ञान के कारण वास्तव तो है ही नहीं तस्य निंदितत्वात् तो निंदित है वो वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है बार-बार जन्म मरण को प्राप्त करता है भेद दृष्टि करने वाला ये निंदा करने से क्या है निंदितत्वाद भेद दृष्टि नहीं करे एक रसम ब्रह्मैवाहमस्मीति प्रतिपत्तव्यम इत्यर्थ ब्रह्मैव अहम अस्मि ऐसे निश्चय करना चाहिए पंचदशी कारण विद्यारण समय ने कहा है अनुभूते रभावेपि ब्रह्मास्मित्येव चिंत्यता अप्यसत प्राप्यते ध्याना नित्याप्तम ब्रह्म किम पुनः अनुभव नहीं तो ब्रह्मास्मि इसी चिंतन करो वास्तव स्वरूप है ब्रह्मैवास्मि इति प्रतिपत्तव्यम भाष्य में जो भिन्नमिव नाना इव पश्यति नाना नहीं होने पर भी मेरे से भिन्न परमात्मा में भिन्न हूं ऐसा जो देखता है मृत्यु हो मृत्यु मापनति मृत्यु का अर्थ मरणात मरणात मरम मरणम फिर मरण फिर मृत्यु को एक बार मृत्यु को प्राप्त करने से समाप्त नहीं होता है बार-बार पुनः पुनर्जन्म मरण भावम आपनति फिर बाहर बाहर जन्म मरण भाव एक बार मनुष्य जन्म मिला ज्ञान नहीं हुआ तो फिर दोबारा मनुष्य बन जाएगा ऐसा नहीं कोई जरूरी है फिर मनुष्य बनेगा करके फिर कहाँ चौरासी लाख में क्या बनेगा अपने कर्म के अनुसार जिस योनि में जाएगा ऐसे व्यवहार करना पड़ेगा जन्म मरण भाव को प्राप्त करता है बार बार प्रति पद्धति तस्मात् तथा न पश्यति इसलिए ऐसे भेद दृष्टि नहीं करे कि मैं भिन्न हूँ जो मानता है अन्योसु अन्योहम अस्मिति न सवेद वृदान्य में कहा गया तथा न पशेद विज्ञान रसम नैरंतरेण आकाशवत परिपूर्ण ब्रह्मैवाहम अस्मिति पश्येद यदि वाक्यार्थ ये श्रुति का तात्पर्य इसी में है जो ज्ञान एक रस से ज्ञान ही ज्ञान ज्ञान शत्रु तो कुछ भी नहीं है नैरंतरेण आकाशवत निरंतर कोई व्यवधान नहीं है आकाश इस प्रकार सर्वव्यापक है सबके अंदर बाहर बाहर है इसी प्रकार आत्म चैतन्य भी सबके अंदर बाहर एक है निरंतर कोई बीच में व्यवधान नहीं है ये नहीं कि सब जीव में तो है ब्रह्म और खाली स्थान में कहां ब्रह्म रहेगा जे चेतन में तो ब्रह्म है जड़ में ब्रह्म है क्या पत्थर में ब्रह्म है दीवार में दीवाल में पत्थर में ब्रह्म है चेतन में मनुष्य पशु में ब्रह्म है जहाँ कोई दीवाल नहीं है पत्थर नहीं मनुष्य नहीं पशु नहीं खाली स्थान है वहाँ ब्रह्म रहेगा खाली स्थान में रहेगा तो गिर जाएगा आकाश गिर जाता है क्या आकाश गिरता है आकाश जिस प्रकार नहीं गिरता है इसी प्रकार आकाश भी सूक्ष्म है उसको रहने के लिए कोई आश्रय की आवश्यकता नहीं सर्वव्यापक है ब्रह्म के समान सर्वव्याप है आकाशवत परिप नैरंतरेण बीच में कोई व्यवधान खाली स्थान है नहीं आकाश के समान परिपूर्णम ऐसे परिपूर्ण ब्रह्म ही है ब्रह्मैव अहमस्मि ब्रह्म ही मैं हूँ इति पश्चेद ऐसे ही ज्ञान करे साक्षात्कार करे श्रवण मनन करके इसे निश्चय करे यही वाक्यार्थ इस श्रुति का तात्पर्य इसमें है एक रसम चेत ब्रह्म कथम ज्ञातृज्ञ विभाग इत्याशंक्य ब्रह्म एक रस ज्ञान सर्व विज्ञान एक रस ब्रह्म का फिर उसको मैं ब्रह्म इसे जाने उपदेश करते हैं जीव को जीव हो जाएगा ज्ञाता और ब्रह्म हो जाएगा ज्ञेय यदि एक रस ब्रह्म है तो ज्ञातृज्ञ विभाग कैसे बनेगा जीव को उपदेश करते कि मैं ब्रह्म इसे जानो तो ब्रह्म है ज्ञेय ज्ञाता हो गया जीव ज्ञात्री ज्ञेय विभाग कैसे बनेगा यदि एक ही ब्रह्म है इति आशंक्य अज्ञम प्रति कल्पित भेदन इत्याह यह अज्ञानी के प्रति कल्पित भेद से ही ज्ञात्री ज्ञेय विभाग है अज्ञानी को उपदेश करना पड़ता है तुमसे भिन्न प्रपंच दिखता है उसको देखो कहना पड़ता है कोई उपदेश नहीं करेगा तो जगत दीवार पत्थर पेड़ मेरे से भिन्न ऐसे ज्ञान होगा या नहीं होगा उपदेश नहीं करेगा तो उपदेश बिना कैसे होगा पेड़ पौधा को कोई मानता है मैं हूं पहाड़ में हूं कोई मानता है छोटे बच्चा है तो मैं नहीं हूं पहाड़ उधर है मैं तो यहां हूं भेद बुद्धि तो होती है स्वाभाविक उसी जो भेद बुद्धि है इस कल्पित भेद से ही ज्ञाता ज्ञान विभाग हो गया कल्पित भेद से ही ज्ञात्री ज्ञ विभाग अज्ञानी के लिए ज्ञान होने के बाद ज्ञानी अपने को ज्ञाता मानता है या ज्ञेय मानता है ज्ञाता ज्ञेय कुछ नहीं शुद्ध चिद रूप ब्रह्म उससे अतिरिक्त कोई नहीं है नान्य अतोष्टि दृष्टा श्रोता मानता एक चिद रूप से अतिरिक्त कोई दृष्टा ज्ञाता श्रोता मानता कोई है ही नहीं यह अज्ञानी के प्रति विभाग ही वास्तव विभाग है ही नहीं अज्ञान अज्ञम प्रति कल्पित भेद नित्या प्राग एकत्व विज्ञानाद एकत्व विज्ञान के पहले ही ऐसे भेद बुद्धि होती है मैं ज्ञाता हूं ब्रह्मज्ञ वेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किंचन मृत्यु समृत्यं गच्छति य यह नानेव पश्यति मनसा वेदमाप्तव्यं अज्ञानी के प्रति कहते एक ज्ञान होने के पहले एदम मनसा आप्तव्यम मन से इसको प्राप्त करना चाहिए मनुष्य प्राप्त करना चाहिए किंतु पहले इसमें आया यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनुमतम मन का विषय नहीं है यहाँ कहते मन से बिंदा आप्तव्यम मन से उसको प्राप्त करना है तो अभी कहेंगे मन से कैसे मन से प्राप्त होगा शुद्ध मन कहेंगे आचार्य आगम संस्कृत मनसा आचार्य उपदेश लेगा आगम वाक्य से फिर ये शुद्ध मन से उसको प्राप्त करना है तो फिर मन का विषय हो जाएगा ना नहीं ब्रह्म तो मन से एकदम आप्तव्य में यहाँ समर्थन क्या गया वृत्ति व्याप्ति का मन में ब्रह्माकार वृत्ति अहम अस्मि ब्रह्म ब्रह्माकार वृत्ति होगी और यन मनसा सा नमनते कह करके मन का विषय नहीं अवांग मन सगोचर कहा गया वहां निषेध किया गया फल व्याप्ति मन का विषय नहीं मन के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है तभी तो आएगा भाष्य में आएगा नेह नानास्ति किंचन यह ब्रह्मणि किंचन नाना नास्ति ब्रह्म में नाना भेद कुछ है ही नहीं यह कहा था ब्रह्मणि नाना किंचन नास्ति नाना है ही नहीं ब्रह्म में ब्रह्म से बिना कुछ भी नहीं है तो भी जो भेद बुद्धि करता है छोड़ता नहीं मृत्यु से मृत्यु गच्छति फिर मृत्यु से मृत्यु प्राप्त करता है यह नानैव पश्यति भेद बुद्धि करता नाना जैसे दिखता है तो फिर जन्म वर्ण को प्राप्त करता है काल से तही तो कर रहा है भाष्य में प्राग एकत्व विज्ञान आदि एकत्व ज्ञान के पहले मन से एकदम आप्तव्यम उसके पहले ही प्राप्त करना है जानना है ये सब कहा जाता है ज्ञान होने के बाद नहीं मनसा कैसे मनसा आचार्य आगम संस्कृत न मनसा आचार्य और आगम वाक्य से मन का संस्कार होता है शुद्धि उसके पहले मन बहुत शुद्ध हो तब आचार्य के पास जाएगा नहीं तो आचार्य के पास क्यों जाएगा अपने अभी विचार कर लेगा पुस्तक पढ़ लेगा बड़े-बड़े पुस्तक अं, कलयुग में सिखाते गुरु के पास नहीं जाओ आजकल कोई गुरु है ही नहीं हमारे पुस्तक पढ़ो तुम्हारे पुस्तकों के प्रमाण मानेंगे आजकल कोई योग्य नहीं गुरु बनने के लिए तुम्हारे वचनों के प्रमाण मानेंगे हमारे प्रवचन सुनते रहो बस मर जाए तो भी हमारे भाषण सुनते रहो पुस्तक पढ़ते रहो दूसरे पास नहीं जाओ कोई गुरु नहीं ऐसे मन से साक्षात्कार नहीं होगा भगवान भी गुरु के पास गए कोई पूछा था बोलते भगवान श्री कृष्ण तो गुरु के पास गए थे हम गुरु के बिना कैसे होगा और डांट देते क्या तुम भगवान श्री कृष्ण नहीं होगा भगवान श्री कृष्ण गुरु के पास गए तुम क्यों गुरु के पास जाओ तुम भगवान श्री कृष्ण है क्या चुप हो जाए और क्या करें दान देने से यदि उत्तर नहीं आता है अधम कोपेन प्रपुरेत प्रश्न कोई पूछता है यदि उत्तर नहीं दे सकता क्रोध करके डांट दो तो भी मन से शांत कैसे होगा भगवान भी गुरु के पास जाते गुरु के तो कलयुग में कली के दूत ऐसी रूप से आए हैं आएंगे सावधान रहना चाहिए बड़े प्रसिद्ध हो जाए बहुत लोग उनको करोड़पति बहुत मानेंगे तो साधु ब्रह्मज्ञानी हो जाएंगे जिसके पीछे बहुत करोड़पति भी उनको सम्मान करेंगे मानेंगे वो व्यक्ति को अवश्य ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा ना हैं करोड़पति लोग उसको मानते हैं हजार लाख लोग आप ये साधारण लोग तो कोई पूछते नहीं उसके पीछे लाखों लाख करोड़पति तो ज्ञानी होगा ना नहीं हाँ इसको सोच के देख करके जो ज्ञान ज्ञानी मान लेता है वो उसी रास्ता में चलेगा वही से महत्व बुद्धि इसलिए श्रुति कह ये हंत भाष्य में आया तद विज्ञानार्थ गुरु में अभिगछे श्रुति समिति पाणी ये श्रुति में जो कहा गया कोई कोई ऐसे भी कहते ये जब श्रुति लिखी थी उस समय के लिए बात अलग थी अभी अलग है इस समय के लिए नहीं है इस समय के लिए अलग श्रुति अर्थ करो ऐसा नहीं है वेद तो सब युग में एक ही वेद है काल से हुई है उसमें कलयुग में दूसरा सत्ययुग में अलग त्रेता युग अलग ऐसा नहीं हमेशा समान है गुरु के बिना ज्ञान नहीं होगा आचार्य गुरु भी उपदेश करेंगे से आगम वाक्य से वेद वाक्य से इसलिए कहा गया श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु होना चाहिए ज्ञानी हो गया किंतु शास्त्र ज्ञान संपन्न होना भी चाहिए शास्त्र ज्ञान हो जाए किंतु ब्रह्मनिष्ठ नहीं हो साक्षात्कार नहीं किया तो भी उपदेश नहीं कर सकता है <clears throat> आचार्य आगम संस्कृत न मनसा आचार्य और आगम वाक्य से मन का संस्कार होता है वेदांत वाक्य प्रमाण ही सारे प्रमाण को अप्रमाण कर देता है तत्वमसादि महावाक्य एक वेद वाक्य तत्व आवेदक प्रमाण बाकी जो चक्षुरादि प्रमाण प्रत्यक्षादि प्रमाण है ये व्यवहार काल में प्रमाण जिसे व्यवहार किया जाता है तत्वावेदक प्रमाण नहीं है इसको कहता तत्वावेदक प्रमाण तत्वावेदक प्रमाण से भिन्न तत्वावेदक प्रमाण तो तत्व को बताने वाला तत्व को ज्ञान कराने वाले प्रमाण वेदांत वाक्य तो इस वेदांत वाक्य से संस्कृत होता है शुद्ध होता है मन ऐसे मन से इदम आप्तव्यम इदम का तो ब्रह्म एक रसम आप्तव्यम एक रस ब्रह्म को प्राप्त करना चाहिए मनसा आत्मेव नान्यद अस्तिति यही है आत्मेव अन्य कुछ यही नहीं ऐसा हम एक अद्वितीय ब्रह्म ही है उसे बिना है ही नहीं आपते च नानात्व प्रत्यप्रस्थापिकाया अविद्या निवृत्तत्वाद यह ब्रह्मणी नाना नास्ति किंचन अनुमात्रमपि जो ज्ञान प्राप्ति क्या है अपना स्वरूप है उसकी प्राप्ति नहीं ज्ञान ही प्राप्ति है मैं दशम ज्ञान हो गया तो दसम मिल गया दसम तुम हो जब उपदेश हो गया समझ रहा मैं दशम हूं दसम को लाने के लिए सब मिलकर जाएंगे या नहीं मिलकर जाएंगे चलो दसम को लेकर आएंगे बुलाएगा दूसरों को आ जाओ आ जाओ जाएंगे दसम को लाने के लिए स्वयं दसम ज्ञान हो गया दूसरे को सिखाएगा अरे दसम क्या कहां है तुम ही तो दसम हो इसी प्रकार ज्ञान हो गया तो प्राप्त हो गया जो क्या प्राप्त हो गया ज्ञान हो गया ज्ञान होते ही आपते च नानात्व प्रतिपस्थापिका अविद्या निवृत्तत्व नानात्व भेद उपस्थापिका भेद को दिखाने वाले अज्ञान है अज्ञान से भेद दिखता था जैसे स्वप्न में जग गया निद्रा के दोष से आपको जागृत अवस्था का ज्ञान नहीं रहा अज्ञान से अनेक देख करके क्षुत पिपासा वाला होकर करके रोते और जब जाग गया वो ज्ञान समाप्त हो गया जग जाने के बाद कौन रोने वाला बाकी बचेगा कुछ रह जाएंगे रोने वाले फिर उनको जगाना पड़ेगा उठो सपन चल रहा है जग जाओ कोई भूख प्यास नहीं किसको उठाना पड़ता है अपने जगे तो अपने प्रपंच में जितने थे कोई अब दूसरा रहेगा नहीं इसी प्रकार अविद्या निवृत्तत्वात् नानात्व प्रत्युपस्थापिका अविद्या नानात्व को दिखाने वाली जन उत्पन्न करके दिखाने वाली अविद्या ज्ञान से अज्ञान की निवृत्त हो जाने से आगे नाना नहीं है यह ब्रह्मणी नाना नास्ति किंचन अनुमात्रमपि नेह नानास्ति किंचन कुछ भी नहीं नाना अनुमात्र भी स्वप्न से जगने के बाद स्वप्न पदार्थ कितने रहते हैं कुछ नहीं रहेगा कोई भूखा व्यक्ति सपने में खाया पेट भर खाया जगने के बाद कुछ रहेगा ना नहीं एक दो तो रहेगा रसगुल्ला पंद्रह बीस खाया जगने के बाद आधा भी तो रहेगा कुछ भी नहीं रहेगा अच्छा रसगुल्ला नहीं रहे बाह्य पदार्थ रहेगा ना नहीं स्वप्न से जगने के बाद बाह्य पदार्थ रहता ना नहीं बोलो रहता ना स्वप्न पदार्थ जो था अपने जगे अपने पेट में कुछ नहीं रहा किंतु बाह्य जो पदार्थ आपके पास था वो तो रहते ना सपने में आपको करोड़ रुपया मिल गए जगने के बाद रहेगा ना नहीं सपने में आपके कमरे में हाथी आ गए जगने के बाद हाथी दिखता है नहीं अच्छा बाह्य पदार्थ कुछ नहीं रहा किंतु सपने का जो आकाश है वो रहेगा नहीं रहेगा आकाश भी नहीं रहेगा आकाश दिखता है कहां ये आकाश अलग है स्वप्न आकाश अलग है स्वप्न पदार्थ में से कितने अंश रहा एक प्रतिशत रहेगा एक अणु रह जाएगा अणु मात्र में भी स्वप्न पदार्थ पदार्थ ही नहीं जगने के बाद इसी प्रकार ज्ञान होने पर भेद बुद्धि नष्ट हो जाती अविद्या नष्ट हो गई अणु मात्र में भी नहीं है किंचन नह ब्रह्मणि नाना नास्ति किंचन अणु मात्र में भी कोई अलग है ही नहीं दूसरा है ही नहीं अणु मात्र में यस्तु पुनरविद्या ऐसा होने के बाद भी जो भेद दृष्टि रखते हैं यस्तु पुनरविद्यत तिमिर दृष्टि न मुंचति मुंचति यह ब्रह्मणि नानायव पश्यति अविद्या अज्ञान दृष्टि छोड़ता नहीं नाना जैसे देखता है तो मृत्यु से मृत्यु फिर मृत्यु से मृत्यु प्राप्त करता है गच्छत्येव स्वल्पमपि भेदम अध्यारोपय नित्यर्थम थोड़ा सा भी भेद आरोप करता है तो फिर मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है यही मृत्यु से मृत्यु में आपने तो फिर कहा पहले जैसे कहा था थोड़े से भी भेद बुद्धि करता है तो फिर जन्म मरण को प्राप्त करता है इसलिए भेद बुद्धि मिथ्या है भ्रांति है उसको छोड़ना दुराग्रह करके भेद में सत्य तो बुद्धि करना जरूरत नहीं चाहिए ओम सहना भवतु